और वो कहते हैं हमारी तो दुनिया ही की जिंदगी है हम यहीं मरते और जीते हैं और हमें तो जमाना ही हलाक करता है और उनको इसका कुछ इल्म नहीं वो सिर्फ गुमान करते हैं